हेलो दोस्तों आज मैं आपको अपने सात्विक अनों की घटना के बारे में बता रही हूँ जिससे मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आ गया मेरा नाम अंजलि है और ये घटना मेरे और मेरे बेटे राहुल के बीच की है तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ मेरी उम्र अड़तीस साल है और मेरे बेटे की उम्र उन्नीस साल है मैं एक हाउस वाइफ हूँ मेरे पति एक एम में काम करते हैं हम दिल्ली में रहते हैं एक बार मेरे पति का ट्रांसफ़र लंदन में दो महीने के लिए हो गया तो राहुल और मैं भी लंदन घूमने के लिए उनके साथ चल पड़े लंदन एक बहुत ही खूबसूरत शहर है वहीं पर कंपनी की तरफ से हमें फ्लैट मिला था मेरे पति जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और शाम को वो लेट वापस आते हैं एक दिन जब वो आए तो उन्हें बताया कि पंद्रह दिनों के लिए वो दूसरी सिटी के ऑफिस में जाएंगे वहीं रहेंगे मेरा और राहुल का मूड तो बिल्कुल ख़राब हो गया तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों यहाँ घूमो पंद्रह दिन बाद वापस आ जाऊँगा फिर अगले दिन वो चले गए अब मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया था तब राहुल मेरे पास आया और मुझसे कहा कि माँ चलो घूम कर आते हैं फिर हम दोनों लंदन घूमने निकल पड़े अब हम दोनों ने घूमते हुए काफ़ी काफ़ी इंजॉय करा और मूड भी फ्रेश हो गया फिर हम शॉपिंग के लिए गए फिर राहुल ने अपने लिए कपड़े खरीदे लेकिन मेरे लिए वहाँ खरीदने के लिए कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं केवल सलवार सूट और साड़ी पहनती थी तब राहुल ने मुझे जीन्स टी शर्ट और शॉर्ट सिलवाया मैंने उसे काफ़ी मना किया लेकिन बोला यहाँ तो आप ये सब पहन सकती हो आप पर कपड़े अच्छे भी लेंगे मैंने वो ले लिए फिर मैंने अपने लिए ब्रा और पेंटी भी खरीदी तब राहुल ने मुझे नोट नेट वाली ब्रा और स्ट्रिप्स पेंटी पसंद करने कहा बोला ये आप पर बहुत से खिलेगी अब मैं उसको ऐसा करता देख कर हैरान हो गई जब मैंने ट्राई रूम में जाकर कपड़े पहने तो राहुल को दिखा तो उसने कहा कि माँ आप बहुत हॉट लग रही हो मैंने स्माइल देखकर कहा चल है फिर वही ड्रेस पहन के राहुल के साथ अपने फ्लैट वापस आ गई फिर वहाँ से आने के बाद हमने खाना खाया टीवी देखने लगे तब राहुल ने कहा कि माँ क्या आपको आज घूमने का मजा आया तो मैंने हाँ में सिर राहुल ने कहा कि माँ हम कल शाम को डिस्को में चलेंगे मेरा मूड वहाँ जाने को हो रहा है और वहाँ सिंगल एंट्री नहीं है तो हम दोनों चलेंगे फिर मैंने उसे पहले मना कर दिया लेकिन राहुल ने जिद किया और कहा कि हम दोनों डांस करेंगे और और काफ़ी मज़ा आएगा फिर मैंने हाँ कर दिया जाने के लिए अब खुश होकर राहुल ने मुझे हक कर लिया और थैंक्स बोलकर मेरे गाल पर किस भी कर दिया वो सोने चला गया उसके गले लगने की और किस करने पर मैं रात को सोते वक्त उसके बारे में सोचती रही कहीं राहुल मुझे एक माँ की बजाय एक हॉट औरत की तरह तो नहीं देख रहा हर समय मुझे टच करने के लिए करीब रहने की कोशिश करता है फिर ही सोचते हुए मैं सो गई और अगली सुबह उठी और राहुल को जगाया फिर हम दोनों फ्रेश होकर नाश्ता किया और राहुल से कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद आई मीन मेरे नहाने का तुम भी नहा लेना फिर हम घूमने चलेंगे तो राहुल ने भी हाँ में सिर हिला दिया मैं नहाने चली गई फिर नहाने के बाद मैं राहुल को आवाज़ दी और मेरे ब्रा एंट्री देने को कहा जो कि बाहर रखे हुए थे और वो मैं जानबूझ कर नहीं लेने आई थी क्योंकि मैं राहुल को देखना चाहती ही थी कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है और मैं भी उससे पसंद करने लगी थी तो मैं उसको गर्म करना चाहती थी अब राहुल मेरी ब्रा और पेंटी लेकर आया मुझे बाहर से देने लगा तो मैंने सुंदर बुला दिया अब मैं उस समय केवल टावल में थी जिसमें मेरे थर्टी सिक्स इंच के वो सादे दिखाई दे रहे थे और नीचे मेरे पैर घुटना तक दिखाई दे रहे थे अब राहुल मुझे देखता ही रह गया फिर मैंने उससे ब्रा और पेंटी लिए और बाहर वैसे कपड़े पहन कर आई फिर मैंने काले रंग का टॉप पहना जिसमें मेरी पूरी कमर दिखाई दे रही थी और वो के क्लेवे दिखाई दे रहे थे मैंने नीचे आई मीन नीचे मैंने मेरी स्कर्ट पहनी थी थी जिससे मेरी आधी जांघें भी दिख रही थी अब मुझे देखकर राहुल का बुलाहान होने लगा था और उसके शॉर्ट में स्कलन पहली बार खड़े होते हुए देखा था अब स्कलन काफ़ी बड़ा दिख रहा था फिर वो नहाने चला गया उसके नहा कर आने के बाद हम घूमने चले गए और बाहर ही खाना खाया शाम तक घूमते रहे हम एक दूसरे के हाथों में हाथ ले जा रहे थे अब मुझे राहुल का साथ काफ़ी पसंद आ रहा था फिर हम एक डांस क्लब में गए वहाँ जाकर हमने देखा काफ़ी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं कोई डांस कर रहा है कोई ड्रिंक्स ले रहा है अब मैं और राहुल भी एक दूसरे के साथ डांस करने लगे फिर राहुल ने कहा कि चलो ड्रिंक पीते हैं फिर राहुल ने कहा कि माँ हम बियर पी ले तो मैंने मना कर दिया लेकिन वो जिद करता रहा मैंने कहा चलो ठीक है लेकिन थोड़ी सी पियेंगे हम दोनों बियर पी लिए डांस करने लगे मुझे नशा सा होने लगा और हम दोनों काफ़ी पास आकर डांस करने लगे अब हम एक दूसरे के बाहों में बाहर डालकर डांस कर रहे थे राहुल ने अपना एक हाथ मेरी कमर पर रखा मुझे धीरे धीरे सहराता रहा और एक हाथ मेरे पेट की साइड पर रखते हुए मेरे मेरे हो तक ले गया वो मेरे बिल्कुल पास आ गया उसका चेहरा मेरी साइड में था और अपने गाल मेरे गालों से रगड़ रहा था फिर मैंने महसूस करा कि उसका लड़ खड़ा हो गया है और मेरी जांघों से रगड़ रहा है तो अब मेरे शरीर में एकदम बिजली सी दौड़ गई और राहुल के साथ बिल्कुल चिपक गई फिर वो अपने होठों को मेरे होठों के पास ले आए और हम किस करने लग गए फिर कुछ देर बाद किस करने के बाद हम वहाँ एक दूसरे के साथ चिपक कर डांस करते रहे फिर थोड़ी देर बाद हम घर वापस आ गए अब मैं बिल्कुल नशे में चल रही थी फिर हम ग्यारह बजे घर आए तो राहुल मुझे पकड़ कर ला रहा था वो मेरे साथ ही मेरे कमरे में आ गया अब हम दोनों बेड पर एक दूसरे की तरफ आकर लेट गए अब राहुल ने मेरी आंखों में देखा कहा माँ आई लव यू मैंने उसे स्माइल दे दी लेकिन उससे कुछ कहा नहीं फिर वो करीब आया मेरे टॉप के ऊपर से मेरे पेट के सहलाने लगा फिर उसने मेरे होठों पर किस कर लिए फिर हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे ये काफी लंबा था और हम एक दूसरे की जीप को होठों से चूस रहे थे फिर राहुल में बैठ गया मुझे किस करते हुए मेरे कपड़े उतारने लगा पहले उसने मेरे टॉप निकाल दिया फिर ब्रा के ऊपर से ही मेरे बूब्स दबाने लगा फिर मेरी स्कर्ट भी निकाल दी और मुझसे बुरी तरह किस करने लगा उसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे और मेरे गले रखते हुए मेरी पीछे से का खोल दिया और मेरे बूफ चूसने लगा अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा था फिर मैंने उसने मेरी पेंटिंग भी उतार फेंकी और मेरे जूत देखने लगा फिर साथ ही मेरी जांघों पर किस करते हुए जूत को चाटने लगा अब मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था अब मेरी शुष्कारियाँ निकलने लगी थी और उसका से पकड़ पकड़ पकड़ कर अंदर की तरफ दफाने लगी अब मेरा तो बुरा हाल हो गया था अब मैं आ राहुल आ राहुल मजा आ रहा है हाय ओही की आवाज़ें निकाल रही थी उसका राहुल अपना लड़ मेरे मुंह के पास लाने लगा और मुंह में रहने को कहा तो मैंने उसे मना कर दिया लेकिन राहुल ने जबरदस्ती अपना लन डाल दिया और मेरे सिर को पकड़ कर अंदर बाहर करने लगा अब मुझे लंच चूसने में मजा आ गया था और कुछ देर लंच चूसने के बाद राहुल ने मुझे सीधा लेटा दिया अब अपने लंबे लंच को मेरी जूत पर रखकर धक्का मारा मेरी तो जान ही निकल गई आ राहुल आराम से कर मैं मर गई राहुल कलर अपने पापा से भी लंबा और मोटा था फिर मैंने ये नहीं सोचा अब था अब मुझे दर्द हो रहा था अब राहुल अपने लन को मेरी जूत के अंदर बाहर करने लगा और अब मेरी चीखें निकल रही थी हाय मर गई आराम से ओह मैं बहुत चिल्ला रही थी कुछ देर बाद मुझे मजा आने लगा और मैं अपनी कान उठा उठा कर राहुल का साथ देने लगी कुछ देर बाद हम लोगों ने पानी छोड़ दिया फिर हमें कैसे लेते रहे उस रात राहुल ने मुझे कई बार ज्यादा मेरी कान मारी अब हम दोनों ऐसे ही सेक्स करते हैं और अब तक कर रहे हैं कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी ज़रूर बताना और उसके बाद हम लोग रोज रात को पंद्रह दिन तक उसके पापा के आने से पहले सेक्स करते रहे और अब मेरी आवाज़ मैं उससे खुलने लगी थी और मैं उसको चिल्ला चिल्ला के कहती राहुल और करो तुम मेरे पति हो अब अब मेरी जूत को भूसड़ा बना दो मेरी कान फाड़ दो अब मेरी दूध और लेने की चाहत होने लगी थी तो फिर हम लोगों ने एक तरकीब सूची नेक्स्ट डे हम लोग फिर शॉपिंग के लिए गए और हमने एक बड़ा सा मोटा सा डिल्डो खरीदा और उसके बाद राहुल मेरी गांड मारते मारते मेरे चूत में डिल्डो फंसा देता और कभी चूत मारते मारते मेरी गांड में डिल्डो फंसा देता इस तरीके से हम लोगों ने खूब सेक्स के मजे लिए कम से कम पंद्रह दिनों तक दिन रात हम लोगों ने सेक्स किया और उसके बाद जब उसके पापा आ गए तो थोड़ा हमारा सेक्स करना कम हो गया लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सुबह जल्दी चल जाते रात के लेट आते तो हम लोगों ने लंदन में जब तक हम दो महीने रहे तब तक खूब सेक्स किया खूब अब हमारे माँ बेटे के बीच की दूरी और शर्म भी ख़त्म हो चुकी थी अब राहुल मेरे साथ मेरे पति जैसा रहने लगा था और मेरा पति मेरे साथ मेरे बेटे जैसा क्योंकि मेरे पति ना मेरे साथ ठीक से सेक्स करते थे और ना ही मुझे संतुष्ट कर पाते थे लेकिन राहुल का लन काफ़ी बड़ा था जो मुझे बहुत ज़्यादा आराम देता था और बहुत ज़्यादा सुख देता था और आगे हम इस तरह ही हम लोगों ने हर चीज़ कंटिन्यू करी इंडिया आने के बाद भी